ಪರಂ ಭಾವನೆ ಅಹಂ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ತಂದರಕಾರಿದ ಪದ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪಾದ ಅಮೃತಾಧಾರ ಭಕ್ತರ ಕುರಿತು ವರ್ಧಮಾನ ರಥವಾಗ್ತದೆ यह हमारा इकतालीस परिमाण संपद और तकलीफ बनाए नमस्कार

कभी आपके उसके सेक्रेटरी ने अपने शरीर से चलाया चलाने में आज से तेजी साल पहले

जरा उनके डॉक्टर को आवाज दें माजी की मदद की हो गई आपकी यह जीवन चावल हो या किसी तरह अनाज रही हो या नरेंद्र को तैयार को हो या इंग्लिश एसोसिएशन हो ये जितनी भी जीवन I am the

आयुष छोटे छोटे इतने मरी है हमारे पाँच लाख को कितने नौकरी भेजा से कितने मशीने भेजा यही तो मारे बता से कहते हम आपको मारे गए हैं ये कहाँ से चला मौलाना हबीबुर रहमान साहब को कौन ला कितने मौलाना राफे साहब और सईदुर रहमान की खुशामदें कितने आदमी भेजा कि हमें पहले ही बता की जरूरत ये सब लेकर आते हैं लेकिन एक ही कारण भगवान दुश्मन का मेरे बहन पर बोला नहीं यहाँ जो फंसा दिया और अब उसका जाना कोई विश्वास नहीं है अब क्या विश्वास उसका जाना विश्वास उसका था कि गाँव में बिजली नहीं पानी और बिजली वो मतलब नहीं वो वाटर नहीं जो पहले उसके मकान से उन्हें टंकी करने खुद महाराज कैसे मकान में रहते थे हमसे पूछो महाराणा श्री अली कहा कि उनके मकान में रहे हमसे पूछो उस वक्त किसी उत्साह को यहाँ लाना और जाना यह आराम काम नहीं था आपको हर कोई आ जाए शानदार अमीर खाने हुए मुदारिकी से शायद इंडियन वाटर पर मुश्किल मुदारिकी वाटर किसी मदरसे के पास एक में कितने कितने लंबे और मेरा कोई विशाल नहीं हमारा रहता है परिणामों का मेरे आज ही बहुत अलहमदिल्ला अच्छा है उस वक्त में लड़े सुलाना और फिर उसको उसकी आज बधाई करना उसको यहाँ रखना मामूली काम नहीं था बहुत मुश्किल था लड़ाई जब रखते हैं जीवन का इलाज हो रहा है तो एक दिन साल की आए दहन जो करेंगे getting studies that phenomena actually. और निभा की पर आप जो मेहनत करते हैं और आपके अंदाजा आप सभी चुनावों को हल इस्लामी अकायद इस्लामी नाकामात कुरान और की तस्वीर से हर आपको इसके अलावा के जरिए जो ऑब्जेक्टिव स्टडी जो आपका निहारी मुताले के अलावा आपका जो मुताला है वो मुताले को देखने नहीं जैसे आप तो मुताला नहीं करें आप पर किताब नहीं पढ़ें अच्छे अच्छे राइटर्स को तो नहीं पढ़ें तो आप जीवन में क्या आप आगे वर्षों में देखेंगे ये जीवनी की लगातार आपको मुताले का उभार और एक बार आपको करना है और अपने अंदर वो इस्तेदार पैदा करना है कि आप किसी भी मजमून पर बहुत ही संजीदगी के साथ मुस्बत अंदाज में सोचते हुए या वो लहजे में फंसी बड़ी जबान में आप इस्लाम की तर्जमानी कर सकें और उस चैप्टर को सही तौर पर अदा कर सकें या देख सकें जो आप अपने मुखातर को समझाना चाहें और अजीब बात यह है कि आपका मुखातर पूरी दुनिया आप दाही हैं और पूरी दुनिया आपकी बदबुरे आकर आप जब आप ये कहते हैं मैं मुसलमान तो ये छोटा मोटा दावा नहीं

दुनिया की सारी जबान जाहिर है कि एक आदमी की सारी जबान नहीं सीख सकता तो आपको साक्षी में बाहर भी करना पड़ेगा जो जिस जगह पर काम कर रहा है वो उस जगह की जबान को बताया जा रहे हैं कि चार महीने और इसको ताइवान में रहे वहाँ से हमने नुकसान हुआ है अब आ रहा है

सुनकर करने आती है या कहने के फलों में लाखों लोगों को नियंत्रण में बना बल्कि ये मुखालत से फायदा ये भी हुआ कि लोग इस्लाम को पढ़ने लगे खेती की बुराई की आई है तो पढ़ते तो देखो बुराई तेरी आवाज लगेगी बहत्तर साल की उम्र में मैं इमरान ने कहा कि आज को तो शाहबानों के चला उससे पहले से जो मसला उठा हुआ था तो फाइनल कराने के काम नहीं हुआ लेकिन ये तो जब तो उसकी आवाज़ पहले चलने की कोशिश इमरान का तो मुझे यही पता नहीं कि इस्लाम में है के नाम से कोई इंश्योरेंस औरत की जिंदगी का होता है आज हमारी कि बड़े अहदे पर बैठे हुए शास्त्रों भी क्योंकि हम उदाहरण में लिखते पढ़ते ही हैं जिनको वो ना पार हम अपने ही दायरे में हैं इस्लाम महदूद होने के लिए मैं शायद बहुत ऑस्ट्रेलिया आने वाले अपने प्रोग्राम के हो गए होंगे बारह के इंजीनियरों के जरिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है आप मुख्तलिफ जबानों में महारत हासिल कीजिए गणेश नाम कृष्ण दर्शन बनिए आपके लिए माँ के विधानों में हमारियाँ रखी हैं इसके फायदा उठाइए अपने मारे अर्थात ढंग से अपनी सलाहियत को बढ़ाइए इस मौके पर मैं अपने मौजवाना साधना करा हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब और मौलाना हबीब अहमद साहब मौलाना इकबाल साहब मौलाना अहमद अली साहब साहब और सलाउद्दीन साहब और दूसरे हमारे मौजवान असाधा नाम कोई और नहीं ले रहे हैं आप सब आते हैं तो आपके देश में कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी जरूर कर रहे हैं और आपके दुश्मनों के लिए आगे अनुमान वक्त किए हुए आप उनके मामलों में मशहूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और उनकी सेहत आपके के लिए तो आप न रहिए ये चंद अल्फाज के साथ मैं आपको कभी समाधान चाहता हूँ तो आप इस नागरिक को आपकी संयमन के कारण रहने में बेहतर की दावत देगी यहाँ के साथ और भगत की बात है कि हर मौके पर आप हमें याद रखते हैं संसदीय क्षेत्र की दावत पेश करते हैं मैं यहाँ चाहकर लिखा हूँ ये भी हमारे दीनी मदरसों की खसूसियात में से कि वो अपने पुराने इसका मदरसे के पुराने कार्यक्रम को कभी खराब होने नहीं करते चाहे वो मदरसे ஆசிரியர்களை அறிந்த कहता हूँ ये उनके मोहब्बत उनके इलाज के जरिए भी जो उन्होंने और से हिदायत देने के साथ मेरे इलाज की तरफ कमाया सही बात यह है और उस पर बना से तस्लीम करेंगे कि दो इदारे में मजमिन दो इदारे में खाली चाहे जैसा हो चाहे जैसे पर लगता हो लेकिन अगर असालता को मुखलिस नहीं मिलते जो जीवन जान से अल्लाह की खिदमत के लिए अपने आप को वक्त करने वाले हों तो वो हो जाए Dale. है उसको सर्व करना है अर्थदरिता एक रंग होता है तो उसमें कुछ लेकिन नष्ट मसले के समय में इलाज की तस्वीर में हमने पढ़ा है हमें जो कुछ पुराना उससे ज्यादा हमें कुछ उठाना मालूम ये कुछ नजर है उसके बाद उस कारण को जाना पड़ गया इसलिए मैं बार बार कहते हैं हज़ार में बात कहता रहा हूँ हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बताया जा रही है इस वक्त में जो निजाम है आपके पास बेहतरीन